करने वाला जो विज्ञान है उसका ज्ञान कैसे हो ये तो नष्ट ही हो जाए केवल अनुमान ही लोग करते हैं प्रकाश के यश से ये नवाज यश संबंधी बिना प्रकाशते ये नवा इसलिए आपके ये अवतार होते हैं वो संसार सागर से पार करने के लिए होते हैं दुर्गम आत्म तत्व निबलाय कलाप कर लो आत्मतत्व का अवगम कराने के लिए आपके अवतार है ऐसे देवताओं ने स्तुति और कहा हे भगवान श्रेयम गुणन संस्मरण चिंतन नाना रूपान चमंगलान के क्रियासुस्वचरणारंदो राविष्ठेता बाकी सन्निधन सुनना और श्रोत की संवेदन जनन अगर श्रोत आए और तुम वक्ता हो तो कहने लग जाए और वक्त श्रोत के भावे संस्मरण चिंतन भगवान के निदान सत्यों का स्मरण करो चिंतन करो अच्छा चिंतन और स्मरण में क्या अंतर है स्मरण उसको कहते हैं कि जो वस्तु अपने आप याद आ जाए और चिंतन उसको कहते हैं तो जो हम अपने स्मरण का याद करते हैं जैसे कोई श्लोक याद नहीं आता तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं तो अप्रयत्न चित्त व्यापार चिंतनम अप्रयत्न चित्त व्यापार स्मरणम बिना प्रयत्न से कोई वस्तु स्पर्श हो रही है तो उसको स्मरण कहते हैं प्रयत्न करने का पर कोई वस्तु याद आती है उसको चिंतन कहते हैं इस तरह से देवताओं ने स्तुति करके और अपने अपने लोग को चले गए अब भगवान के अवतार का समय हुआ अब सर्व का पाला भवन से संपूर्ण का गुणों से युक्त काल हो गया भगवान जब प्रकट होने वाले हैं तो संपूर्ण ऋषियों ने अपने अपने गुण प्रकट कर दिए काला हमारे देवता के पास पर ऋषि आए और कहा कि भगवान के अवतार के सामने आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रकट हो जाऊं बसंत ऋतु बोली मैं सबसे बड़ी अच्छी ऋतु मानी जाती हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो इसमें मैं प्रकट हो जाऊं वर्षा ऋतु तो समय थी और सब ऋतु अपनी अपनी महिमा के लिए कि भगवान के अवतार में इसके समय जो ऋतु होगी उसकी महिमा गाई जाएगी तो सब ऋतु कहीं मैं प्रगट हो जाऊं मैं प्रगट हो जाऊं तो कालाभिमानी देवता ने कहा कि अरे हरे ऋतु में कोई दोष होता है दो भी होते हैं तो देखो तुम अपने अपने दोष अपने पास में रखो सब ऋतु अपने अपने दोनों को प्रकट कर दो तो ऋतुओं ने सारे मिल करके अपने गुण प्रकट कर दिए इसलिए कहा अत सर्व गुणों देता सर्वहित गुणों देता उस समय जो वो जो समय था संपूर्ण ऋतुओं के गुणों से मुक्त हो गया अकेले परम शोभा जन्म जन्मक्षम तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था सब आगे शांत थे दिशाएं प्रसन्न थी आकाश निर्मल था ये निर्मल उसमें आकाश कहां से आया ये जो है टू का गुण है नहीं मंगल प्रयाण हो जाएगा सारी पृथ्वी पर मंगल बनाए जाए रहे नदियों के जल प्रसन्न थे निर्मल थे और रात्रि के समय भी कमल खिले हुए एक दिन का गुण और रात्रि में दुजाल गणों की पंक्तियों में वो पुष्पों के गुच्छे खिल रहे थे बहुत वायु सुखस्पर्शा वायु धीरे धीरे शीतल और मंद और सुगंध ये वायु के गुण धीरे धीरे चल रही थी शीतल थी और सुगंधित थी अग्नय से प्रजाति नाम शांता तत्व समुद्र ब्राह्मणों के यहाँ अग्नियां अपने आप जलने लगेंगी अवन संजन बिना जलायु मनान शासन प्रसन्नानु साधु नाम अथवा ग्रहण संत महात्माओं से चित्त अपने आप प्रसन्न हो गए जाय माने जनार्दने जनार्दने जाय माने जनानाम भक्तजानानाम अर्जने लाखने जाय माने भगवान आविर्भव आविर्भव महाराज आपके प्रकट होने का समय है अब आप प्रकट होइए प्रकट होइए सुंदर लोग दान कर रहे हम्म, थे विद्यार्थी नृत्य कर रही थी देवतायु आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे मंदम जल गया जगत की साधन धीरे धीरे बादल गर्भ रहे थे ये वर्षा का दिन निशी थे कमल भूते आधी रात्रि का समय था घोर अंधकार छाया हुआ था चारों ओर और देवक काम रूप भगवान ने कहा जब राम रूप से हम अर्पित हुए थे तो उस समय रघुवंश में अवतार सूर्यवंश में तो सूर्यवंश में जब हमने अवतार ग्रहण किया था तो सूर्य की उपस्थिति भगवान सुन थे मध्य ग्रस शीतल धाम और कहते हैं चंद्रमा सिंह आपकी अवतार ग्रहण कर रहे हैं तो चंद्रमा की उपस्थिति होनी चाहिए तो भगवान ने देखा कि अगर अष्टमी के दिन हम अवतार ग्रहण कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन चंद्रमा कितने समय निकलता है बोला आधी रात के समय निकलता है तो भगवान का ठीक निशी थे कमी पर घोर अंधकार छाया हुआ था देवत्याम देवी मैया जो देवरूपी देवी की मैया है वो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले जो भगवान है आर राशि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए बोलिए श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए क्या जैसे रात का विष्णु के लिए कुछ करा प्राचीन दिशा में पूर्व में पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट हुए इस कला यद्यपि अष्टमी का चंद्रमा आधा निकलता है तो चंद्रमा को ये प्रसन्नता हुई कि भगवान मेरे भविष्य में अवतीर्ण हो रहे हैं तो प्रसन्न होकर के आधे से पूरे जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अवसर होता है ऐसे तो अष्टमी के दिन वो चंद्रमा का होता जिसमें जुड़े कुछ कला था पूर्व दिशा में उधर पूर्व दिशा में शुक्ल चंद्र का उदय हो रहा था और दिन की दुनिया में कृष्ण चंद्र का उदय हो रहा था काले चांद बंगाली उसको काला चांद कहते हैं श्री कृष्ण यहाँ शुक्ल चंद्र उदय उदित हो रहे हैं यहाँ कृष्ण चंद्र उदय हो रहे ये काला चंद्रमा वो सफेद चंद्रमा समर्भुतम बारम क्षण अब ऐसे और भी बालक पैदा होते हैं ऐसे थे तो जेल में लिखते हुए हों और फिर ऐसे हों वो तो एक साथ भगवान उन दोनों के सामने खड़े हुए और देव की तो देख भी नहीं सही होता तक जी की दृष्टि बसदेव अलग क्षत तो। बसदेव जी ने देखा अरे ये तो अद्भुत बालक है समद्भुतम बालकम क्षण चतुर्भुजन संखदायुधायुधम अरे इनको अद्भुत बालक है भाई कमल के समाज के लिए खुले हुए हैं चार इसकी भुजाएं हैं और शंख चक्र गदापद में दिए हुए हैं आज तक कोई बालक जो है शंख लेकर पैदा हुआ है कोई नहीं गदा लेके शंख लेकर के कोई नहीं पैदा ठीक है जीवत्सुण्डम जलशोभित स्पदम पीताम्बरम पीला वस्त्र पहले हुए थे पीताम्बर धारण किए थे कोई बालक अपनी माता के जल से कुछ वस्त्र पहन करके पैदा हुआ तो इसलिए भगवान ने कहा ये हमारे जो हैं अवतार होते हैं ये भी अद्भुत होते हैं जन्म कर्म तुम्हें विज्ञान अरे संसार के प्राणियों के जैसे जन्म कर्म होते हैं ऐसे हमारे नहीं होते जन्म कर्म से नहीं जन्म एवं वो देते सत्य का हाँ, उनको समझो तो गीतांबर धारण किए हुए सांग योग का योग और फिर वसुदेव अंश है बसदेव देखा और बसदेव फिर भगवान की स्तुति करनी है ये चर्चा को फल सुनाएंगे वो तो ये श्री कृष्ण पुत्रस्य पुत्रस्य पितुः शयामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि पञ्चाशद्गानन्तेन व्याप्तमिदं योऽन्तः प्रविश्य मम वासन्नाम् प्रसक्ताम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणनमो नमो नमश्यामो कमलाकाम सौराम श्री कृष्णावासुदेवाय शनास्मने शरणपक्लेशनाशाय देविन्दाय नमो नमः नमः श्रीपरमहंसा तो भगवान मैंने आपको पहचान लिया आप साक्षात प्रकृति से पर पुरुष हैं प्रकृति के नियम का है अपनी माया से जगत की रचना करके इसमें आप पुरुष से मालूम होते हैं एवं भगवान दुर्जनदेव लक्षण द्रावी गुण संगत गुणाग्रह आप संसार के सभी पदार्थों में रहते हुए भी इंद्रियों से आपका ग्रहण नहीं होता इंद्रिया आपको नहीं देख सकती अनाग तत्व संपूर्ण वस्तुओं के रूप में सबके सामने प्रकट हैं जो इन दृश्य पदार्थों को सच्चा समझता है वो कहते हैं अबुधा वो मूर्ख है सत्यम त्रिलोक स्थित समाया आप त्रिलोकी के स्थिति के लिए शुक्ल का शुद्ध स्वरूप धारण करते हैं उत्पत्ति के लिए रजोगुण स्वीकार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करके इसको आप अपने लिए लीन कर देते ये भगवान ये कंस बड़ा असभ्य है जब इसने ये सुना कि आपका अवतार हमारे यहाँ होगा तो उसमें आपके भाइयों को और जब आपके अवतार की बात सुनेगा तो अभी आपका होगा इसलिए यह कंस को अभी मारना है तब तो आप यहाँ उपस्थित रहिए अन्यथा अन्यथ गंतव्य जब वसुदेव जी स्थिति कर चुके और फिर देव की माता स्थिति करने लगी अथैनम आत्मजन दीक्ष महापुरुष लक्षण देव जी ने भी कहा ये तो साक्षात भगवान मेरे तरह से प्रकट हुए हैं देव की तब आ रहा कंसा भीता शुचि स्मिता कंस से डरती भी जाती है और भगवान की स्तुति करती है देव के से देव की होगी रूपम यमात्म विवरम बच्चे तो निर्गुण निर्विकारम सत्तामात्म शक्ति साक्षात विष्णुवर्जात्मदीप रूप्यते निरूप्यते यद रूपम वस्तु वेद जिस वस्तु का प्रतिपालन करते हैं वो क्या है वो अव्यक्त है वो इंद्रियों का विषय नहीं है रूपम यत्प्राह अव्यक्तम तो अव्यक्त तो आकाश की है क्योंकि नहीं था यम जो जगत का कारण है और यम तो कहते हैं क्या या लोग परमाणुओं का जगत का कारण लगाते हैं पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी बनती है जल के परमाणुओं से जल बन जाता है क्या परमाणु कि नहीं ब्रह्म हो व्यापक जगत का कारण है और वो व्यापक है और अपनी सांख्य की प्रकृति सांख्य जो प्रकृति को व्यापक मानते हैं प्रतिमन प्रकृति जब होती है ज्योति ज्ञान स्वरूप वो चेतन है जब चेतन की निर्दायक ज्ञान उसका आत्मा का गुण मानते हैं क्या निर्दायकों के वाले आत्मा तक में निर्गुण सब सांख्य वाला का परिणाम तो तो के नहीं निर्विकारम तो कहते हैं पुष्कराक्ष ऐसा मानते हैं तो जैसे वायु के सहयोग से समुद्र ही तरंग और प्रेम पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है ऐसे शक्तिकृत विक्षेप से भगवान ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हो जाता है तो क्या ऐसे अपनी सत्ता मात्र क्या विशेषण नहीं रह सकता नहीं निर् विशेषण निर्विमन संगम आश्रय कारण ऐसे सत्य साक्षात अध्यात्म दीपा अध्यात्म के प्रकाशक वही आप साक्षात परमात्मा है जब इस संसार नष्ट हो जाता है दीप पराध अवसान है ब्रह्मा की आयु पूरी होने ये महाभूत आदि भूताओं के निकाल में जब लीन हो जाते हैं व्यक्त सब अव्यक्त में जब लीन हो जाते है भगवान का शिष्य भी शेष चुनिया उस समय केवल आप शेष रह इसलिए आपका नाम शेष भी हो शिष्य के अशिष्य के शेषा नष्ट हो जाता है तो काल के चिष्ट से वो तो ऊर्धम शिष्य थे काल काल ने सबको नष्ट कर दिया और उसके बाद क्या शेष रहे वो परमात्मा फिर तो संसार से उत्पन्न हुआ और ये काल का है ये भगवान आपकी चेष्टा है ये प्राणी काल के भय से मृत्यु के ईश्वर बताती है स्तुति करती है और अंत करने लग जाती है क्या अभी वो होगी मेरी बुद्धि स्थिर है फिर आपको बालक समझते हो मैं समझते हूँ मेरे बड़ा रहा है मार देगा तो गरीब संगा विश्वास नहीं ये तो आपका अलौकिक रूप है चतुर्थ रूप में आप मेरे यहाँ रहेंगे तो सब हल्ला हो जाएगा स्वरूप का श्रृंगार कर ले फिर ज्ञान करने के योग्य है हमारा स्वरूप भगवान ने कहा हम ये रूप के स्वरूप से हम इसलिए प्रकट हुए हैं पहले मान करने हमारी उपासना की थी बड़ा किया था और हम जैसा ही तुमने मांगा था